और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो लूत उनकी वजह से सख्त परेशान हुए और उनकी वजह से उनका दिल तंग होने लगा उन फरिश्तों ने कहा आप न डरिए और न गम कीजिए हम आपको और आपके मुतालिकीन को बचा लेंगे सिवाय आपकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में शामिल रहेगी